जिस दिन सूर में फूका जाएगा हम मुजरिमों को इकट्ठा करेंगे उस दिन इस हाल में कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी